आस्तिक बाबू आप जन्मे थे आपने कोई कोशिश नहीं की थी कि तुम्हारे माँ रोटी सब्जी खाती उसमें से दूध बने तुमने कोशिश नहीं की थी तुम्हारे बाप ने भी नहीं की थी माँ ने भी नहीं की थी सर्व समर्थ और सर्वहितेशी और अंतर्यामी ईश्वर है कि अब ये बालक बाहर आएगा तो क्या खाएगा उस समर्थ ने रोटी सब्जी में से दूध बना दिया नास्तिक बाबू बुरा मत मानना नास्तिक बाबू को ऐसा प्यार से बोलो नास्तिक बाबू आप बुरा नहीं मानना लेकिन आप भगवान पे विश्वास नहीं करते लेकिन ये मेरा बाप है तो अपनी माँ के वचनों पे विश्वास तो किया ना बोले मेरी श्रद्धा नहीं तो आपके माँ पे तो श्रद्धा है ना आपने तो देखा नहीं मेरा बाप है फिर भी बिना देखे भी अपने बाप को तो मानते हो ना आप तो आप नास्तिक बाबू नास्तिक नहीं है हाँ? किसी न किसी को तो मानते ना जब किसी न किसी को मानते तो जिसकी सत्ता से मानते जहां से मैं उठता है वही आपका परमेश्वर है आप ऐसा नहीं कह सकते मैं नहीं हूं कहीं भी मैं नरक में हूं मैं स्वर्ग में मैं हूं तो जो मैं हूं हूं जहां है ना वही ईश्वर है और सामने वाले में है जहां है वो ईश्वर है हूं और है के मूल ईश्वर ही है आप उसको कुछ नहीं मानो कुछ नहीं हूं वही ईश्वर हूं ये कुछ भी नहीं है वही ईश्वर है ईश्वरों सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन से दृष्ट थी तो ईश्वर कैसे है ये ईश्वर सर्व अनुस्यूत है जैसे दूध में फैट अनुस्यूत है तिलों में तेल अनुस्यूत है तरंगों में पानी अनुस्यूत है सुवर्ण के गहनों में सोना अनुस्यूत है मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी अनुस्यूत है सृष्टि में आकाश अनुस्यूत है लोहे में भी आकाश अनुस्यूत है अगर आकाश नहीं होता तो बट्ठे में लोहा लाल कैसे हो जाता है अग्नि घुसती है ना तो अवकाश है तो आकाश में भी वो अनुसूत है इतना सूक्ष्म है ईश्वर और ईश्वर विभू है व्याप्त है चिद घन है इतना ठोस भरा है इतना ठोस भरा है कि लोहा भी उसके आगे कुछ नहीं लोहा भी पोला है उसमें भी आकाश घुस गया लेकिन ईश्वर में कुछ घुस नहीं सकता और सब में ईश्वर घुसा हुआ चिद घन सच्चिदानंद घन है तो आकाश तो जड़ है आकाश को पता नहीं मैं आकाश हूं लेकिन ईश्वर को पता है कि मैं क्या हूं तो ईश्वर चिद घन है सर्व अनुस्यूत है जहां हम है वहां तो है लेकिन जहां हम नहीं वहां भी है जहां हमारी कल्पना है वहां भी है और जहां हमारी कल्पना नहीं पहुंच सकती वहां भी ईश्वर है कई आकाश गंगा है इस पृथ्वी में ये जो सूरज है ना कई आकाश गंगाओं में से सबसे छोटा सूरज है कई आकाश गंगा है उस तो सब का संचालन बल ईश्वर का है दुश्मन में भी ईश्वर है मित्र में भी नौकर भी ईश्वर ही नौकर होके दिखाई दे रहा है ईश्वर ही सेठ होके दिखाई दे रहा है ईश्वरी ऑफिस ऑफिसर होके दिखाई दे रहा है और ईश्वरी भैंस होके भागा जा रहा है और उसके पीछे ईश्वर ही लड़का बन के दौड़े जा रहा है ऐसा ईश्वर चिद घन है कीड़ी में छोटे से छोटा दिखता है फिर भी ज्ञान स्वभाव है ना उसका सच्चिदानंद घन है कीड़ी में ज्ञान है कि नहीं है बोलो बैक्टीरियाओं में ज्ञान है कि नहीं है कि हमारी पार्टी की हार्मफुल बैक्टीरियाओं की पार्टी अलग होती और हानि हितकारक बैक्टीरिया अपनी पार्टी तो बैक्टीरिया कितने सूक्ष्म आंखों से दिखते नहीं उनमें भी चिदघन चैतन्य है और वो ज्ञान स्वभाव दिखता ऐसा है तो सर्व समर्थ भी है तो सर्वव्यापक है सर्व अंतर्यामी है सर्व समर्थ है और परम हमारे सुहृद हितेशी है अगर हमारे हितेश समर्थ हैं हितेशी नहीं है तो क्या काम का उनका सामर्थ्य हम क्या जख मारे उनका सामर्थ्य कई समर्थ सेठ होते नेता होते जख मारे उनका सामर्थ्य हमारे काम में नहीं आए तो भगवान समर्थ भी है और वो दयालु भी है कोई दयालु है सामर्थ्य नहीं तो किस बात की उसकी दया दयालु है दयालु हूँ दयालु है लेकिन कुछ है नहीं, नहीं कर तो नहीं सकती वहां लूला लंगड़ा आदमी है बहुत दयालु है तो क्या करेगा हमारा कोई कोई पद नहीं कोई अकल नहीं और दयालु है तो क्या कर देगा तो भगवान सुहृद भी है समर्थ भी है चलो दयालु भी है समर्थ भी है लेकिन जानते नहीं तो क्या काम के तो भगवान ज्ञान स्वरूप भी है तो भगवान आप ज्ञान स्वरूप भी हो समर्थ भी हो दयालु भी हो फिर भी हम दुखी हैं तो ऐसा क्यों पकड़ो ना पल्ला उनका आप ही बताओ रो आप समर्थ भी हो ज्ञान स्वरूप भी हो सब जानते भी हो और सुहृद भी हो फिर भी हम दुखी क्यों हैं उन्हीं से जैसे बच्चा माँ का पल्ला पकड़े ऐसे उन्हीं का पल्ला पकड़ो हम दुखी क्यों है फिर बताएंगे कि बेटे तुम इसलिए दुखी हो ऐसा करो तो दुख मिट जाएगा मेरा दुख कैसे मिटे आप ही बताओ बैठ जाओ भगवान के आगे ये हारी तुम्हारा नाम दुखारी है मैं दुखी हूं तो मैंने मान लिया लेकिन आप दुख हारी हो हरी हो दुख को हरने वाले हो चुराने वो कैसे मैं नहीं जानता हूं तो आप जानते हो बताओ ना बताओ ना ऐसा करते करते करते आप रो पड़ो देखो फिर वो आंसू के द्वारा दुख बह जाएगा कुछ नया प्रकाश देंगे आप बेईमानी पे भरोसा करते ठगी पे भरोसा करते दूसरों को मस्का मारने पे भरोसा करते दूसरे के आगे सुकड़ने में भरोसा करते तो भगवान पे भरोसा करो ना बेटे भगवान के लिए रो कमरा बंद करके उनसे बात करो ना तो दुख टिकेगा नहीं और आपका एकदम नेशनल हाईवे कोई माना नहीं रखता है ब्रह्म हाईवे हो जाएगा ईश्वर हाईवे भी कहीं लिमिटेड होता है ब्रह्म हाईवे सारा ब्रह्मांड उसमें बबलू के नहीं लगे ऐसा आपका हो जाएगा ब्राह्मी स्थिति वो दे दे क्या अब मैं कुछ बोलूंगा ना तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी मत करो वर्णन नानक जी बोलते मत बयान करो ईश्वर का बयान मत करो मत करो वर्णन हर बेअंत है क्या जाने वो कैसे अजब राज है मोहब्बत के फसाने का जिसको जितना है वैसा गाया चले जाता है ऐसे ईश्वर है तो नारायण ने सवाल किया कि ब्रह्म साक्षात्कार हुआ उसके लिए तो ईश्वर जीव जगत सब बबलू हो जाते हो तो ब्रह्म हो जाते फिर बापू ईश्वर के भाव में आकर ऐसे द्रवित हो जाते ये एक साथ दोनों कैसे हो सकता है भगवान को मानना द्रवीभूत होना है तो भक्त का स्वभाव है साक्षात्कार ही तो पराकाष्ठा पे पहुंचता है ये दोनों बापू में एक साथ कैसे रहता है ऐसा सवाल था इसको बबलू का सांख्य के अनुसार तो ईश्वर जिससे ईश्वर है माया को वश करके रहता है वो ईश्वर है और अविद्या के वश होता है वो जीव है माया और अविद्या जिससे संचालित होती है वो ब्रह्मवेता ब्रह्म मानता है अपने को ब्रह्म जानते तो ब्रह्मवेता महापुरुष होके फिर ईश्वर के लिए ऐसा भाव और द्रवीभूत हो जाए अरे साधन काल में ईश्वर को मानते मानते अंतकरण ईश्वर में वो अंतकरण कहाँ जाएगा साधन काल में ईश्वर को माना है ईश्वर के संस्कार है तो अंतरकरण तो वही है तो ईश्वर ईश्वर के लिए अहोभाव आया तो क्या बुरी बात तो इसको बोलते विशिष्ट अद्वैत है तो अद्वैत ब्रह्म लेकिन महापुरुष जब द्वैत की बात करेंगे तो पूरे द्वैत के साथ विशिष्ट अद्वैत अद्वैत तो है लेकिन द्वैत विशिष्ट अद्वैत द्वैताद्वैत तो मेरे गुरुजी भी ऐसी ऊंचाई पे और फिर ऐसे द्रवीभूत भी हो जाते थे रामकृष्ण भी ऐसे ब्रह्म वेता और फिर माँ माँ की दया बोलते थे क्या है इसमें मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म हूं मैं एक वो तो ठीक है तो डर लगता है क्या ब्रह्म है तो फिर ईश्वर को मानने से ब्रह्म चला जब भोजन ये भोजन है तो भोजन भी मानते ना साक्षात्कार के बाद भूख लगी ये भी तो मानते और क्रिया को भी मानते तो ईश्वर को भी माना तो क्या फर्क पड़ता हाँ पहले अपने को तुच्छ मानते जीव मानते और ईश्वर दया करेंगे तब होगा अब पता चला कि ईश्वर भी मुझ ब्रह्म से है और जीव भी मुझ ब्रह्म से सबका मैं अधिष्ठान स्वरूप जो है सो है जो है सो है बस तो बहुत ऊंची अवस्था है यहाँ वाणी नहीं जाती लेकिन फिर भी थोड़ा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्परपंच में परपंच को करके विस्तार करके फिर जैसे बच्चे घरों में बनाते ना खेलने के लिए फिर बालू को बालू नहीं तो ये मेरा घर ये तेरा घर ये मंदिर है ये घर है मेरी गैरेज है ऑफिस है सब बन जाता है बालू में अरे गैरेज कहा है तो मंदिर है अरे दिखता नहीं गैरेज है अपने पैर के ऊपर मिट्टी डाल के घरों में नहीं बनाते थे अपन लोग तो कोई घर बना कोई गैरेज बना कोई कुछ बना तो उस समय वो गैरेज को मंदिर बोले तो मूर्ख है लेकिन है सब बालू ही बालू न मंदिर है न गैरेज है सब मिट्टी के खिलौने और मन की कल्पना है ऐसे ही सब संसार पर पंच खेल है सत्ता